अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतामिति पूर्व हेतुक्तिर अनुवाद से अनर्थक्यात अनुवाद अनर्थक वचनमिति पूर्वोक्तोर टीका में चलेगा टीका में चलेगा भाष्य में भाष्य में अभिज्ञातम अभिदितम अभिज्ञातम विजानताम नहीं पहले टीका में है अनुवाद मात्र अनर्थक वचन इति पुरुक्तयोर यस्यामत्तम इत्यादिना ज्ञाना ज्ञानयोर हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते ज्ञान अज्ञान का हेतु ज्ञान का हेतु क्या है अभिज्ञातम विजानताम अज्ञान का हेतु विज्ञातम अभिजानताम उसके हेतुअर्थत्व ने इदम उच्यते हेतुअर्थत्व ने इति टीका में अयम अर्थ पूर्वेशा ब्रह्म विजानता अभिज्ञातत्व ब्रह्मण प्रसिद्धवाद इधानीम्यविषयतया ज्ञान पूर्वेशा ब्रह्म विजानता पूर्वा जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ याज्ञवल्क्य आदि को अविज्ञातत्व ने ब्राह्मण प्रसिद्धता विज्ञात रूप से नहीं कि अन्य देवता तद विदित रूप से न अविज्ञा अविषयत्व ने ब्रह्म प्रसिद्ध विषयत्व ने प्रसिद्ध नहीं प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है विषयत्व ने अविज्ञातत्व ने ब्रह्म प्रसिद्ध इदानीमपि अविषयते ज्ञानम सम्य ज्ञानम अभी भी जिसको ज्ञान होता है अविषयत्व ने ज्ञान अहमअस्मि विषयत्व नहीं विज्ञातत्व नहीं विदित नहीं विदित से भिन्न अविषयत्व जो ज्ञान है वह सम्य ज्ञानम इदानीमपि अविषयतया ज्ञानम सम्य ज्ञानम सम्य ज्ञान अर्थ वहाँ अर्थ करना है तथा पूर्वेशाम अविदुषाम विज्ञान ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात् इदानीमपि विषयतया ज्ञानम असम्य ज्ञानमिति पहले जिनको ज्ञान हुआ था अभिदुषाम तो विरोचन आदि को ज्ञान नहीं हुआ था विज्ञान तत्वेनैव ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात् तो ब्रह्म विज्ञान तत्वेन विज्ञात रूप से प्रसिद्ध हुआ देह आदि में हम बुद्धि करने से देह विज्ञात है तो विज्ञान तत्वेन प्रसिद्ध हो गया देह को ही ब्रह्म आत्मा मान लिया इदानीमपि विषयतया ज्ञानम असम्य ज्ञानमिति अभी भी यदि किसको ज्ञान होता है विषयत्व ज्ञान होता है ब्रह्म विषय नहीं होता है दृग रूप है चिद भाष्य होता है विषय अनात्मा जड़ है विषयत्व तो ने ज्ञान यदि होता है किसको असमय ज्ञान विज्ञातम अभिजानताम अभिजान अभिजानताम ज्ञान विज्ञातम विज्ञात विषयत्व तो ने ज्ञात हो ज्ञान होता है तो असमय ज्ञान मिति पूर्व बुद्धि आदि विषय तद्रूपतया बुद्धिरात्मा इंद्रिया इंद्रियात्मेति विज्ञानम वेदवायानां ब्रह्म बौद्धादीनां प्रसिद्धं तत इदानीमपि तन्मात्मतानुसारिणां भ्रान्तानामेव बुद्ध्यादि विषयम् अनात्मरूपम् आत्मतया अभिमतम् इत्यर्थः भले भाष्य में अभिज्ञातम अविदितम आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म अभिज्ञातम अविदितम आत्मत्वेन ब्रह्म आत्मा ही है अविषयतया ब्रह्म अविषयत्वेन ब्रह्म अभिजानताम जिनका जो ज्ञान सम्य ज्ञान हुआ उनके लिए ब्रह्म अविदित विदित से भिन्न यस्मा तस्मा तदेव ज्ञानम इसलिए यस्या मतम तस्य मतम अभिज्ञातम विजानताम विजानताम ज्ञानम अभिज्ञातम जो जानते हैं साक्षात्कार ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क आदि जैसे पहले थे अभी भी जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म विदित नहीं विदित से भिन्न वही ज्ञान सम्य ज्ञान यतेषां विज्ञातम विदितम व्यक्तमेव और जो विज्ञातम अभिजानताम अज्ञानी के लिए तो ब्रह्म विज्ञात होता है विज्ञात का अर्थ विदितम विदित तो होता है ज्ञात व्यक्तमेव बुद्धि आदि विषय बुद्धि आदि विषय को जो जानते हैं वो ज्ञात तो होता है बुद्धि को देह को आत्मा मानते ऐसे बुद्धि आदि विषय ब्रह्म अभी जानता नहीं जानने वाले के लिए देह आदि विदित होने के कारण उसमें ब्रह्म बुद्धि करते विदिता विदित व्यावृतम आत्मभूतम नित्य विज्ञान सर्वम आत्मस्तम ब्रह्म तो विदित अविदित से विलक्षण व्यावृत है आत्मभूतम स्वस्वरूप है नित्य विज्ञान स्वरूपम ज्ञान स्वरूप ही है नित्य घट ज्ञान पट ज्ञान तो अनित्य ज्ञान है स्वरूप होत ज्ञान नित्य विज्ञान स्वरूप है आत्मस्थम व आत्म रूप से स्थित है आत्मस्थम अविक्रियम अमृतम अविक्रिय अमृत है अजरम अभयम अनन्यत्वात् अविषयम अपने से भिन्न नहीं होने से अविषय ब्रह्म विषय नहीं होता इति एवं हम जो ऐसे नहीं जानते हैं उनके लिए बुद्धि आदि विषय ज्ञान विदित होता है बुद्धि आदि विषय आत्मतया नित्यम विज्ञातं ब्रह्म बुद्धि आदि को विषय करने से विषय आत्मतया उनके लिए अज्ञानी के लिए नित्यम विज्ञात ब्रह्म होता है अज्ञानी के लिए तस्माद् विदिता विदित व्यक्ता व्यक्त धर्म अध्यारोपेण कार्यकारण भावेन च सविकल्पम अयथार्थ विषयत्वात् विदित अविदित ब्रह्म कोई विदित कोई अविदित कोई व्यक्त कोई अव्यक्त स्थूल सूक्ष्म धर्म आरोप करते उसमें यद्यपि ब्रह्म उससे विलक्षण स्वस्वरूप है निर्धर्म के उसमें विदितत्वम अविदितत्वम व्यक्तत्वम ये सब धर्म आरोप करके कार्य कारण भाव न च कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव शुद्ध स्वरूप में कार्य कारण भाव नहीं है कार्य मिथ्या है और ब्रह्म में कारणत्व तो भी कल्पित है वस्तु तो नहीं है तो कार्य कारण भाव से कल्पना करते हैं वो ब्रह्म ज्ञान है सविकल्पम अवेतार्थ विषय तो तो सविकल्प है विकल्प न सविकल्प निर्विकल्प ब्रह्म विषय का नहीं अयथार्थ विषय को होने से यथार्थ विषय का नहीं इसलिए यथार्थ ब्रह्म ज्ञान है कादु रजतादि अध्यारोपण ज्ञान वत मिथ्या ज्ञान तत् सुक्ति में रजत का आरोप इस प्रकार है रजत ज्ञान ते किंतु मिथ्या ज्ञान है इसी प्रकार देहादि में अहम बुद्धि करने वाले भ्रांत है टीका में बुद्धि आदि विषय भाष्य में जो आया बुद्धि आदि विषयात्मतया व विज्ञात ब्रह्म बुद्धि आदि विषय तद्रूपतया बुद्धिरात्मा बुद्धि आदि विषयात्मतया बुद्धि आदि विषय तद्रूपतया ज्ञात ब्रह्म तद्रूपतया मतलब तो बुद्धि आत्मा मन आत्मा इंद्रियम आत्मा इसी प्रकार इति विज्ञातम है विज्ञानम विज्ञातम है क्या इति विज्ञातम हम्म? विज्ञातम मुदित है बुद्ध्यादि विषय तद्रूपतया बुद्धिरात्मा मनात्मा इंद्रियमात्मा इति विज्ञातम ज्ञान है हम्म? विज्ञान क्योंकि बुद्धि आदि विषय आत्मतया एवं नित्यम विज्ञातम ब्रह्म बुद्धि आदि विषय आत्मतया उसका अर्थ करते हैं बुद्धि आदि विषय बुद्धि आदि विषय यदि बुद्धि आदि रूपतया विज्ञातम अर्थ इति अभिप्रायण विज्ञातम इति संबंध ठीक टिप्पणी में दिया विज्ञातम इति संबंध तो भाष्य में विज्ञात पाठ है बुद्धि तो विज्ञातम ब्रह्म भाष्य में आया बुद्धि आदि विषय आत्मतया नित्यम विज्ञात ब्रह्म उसका अर्थ करते हैं इसलिए उसमें टिप्पणी में छानवर टिप्पणी में दिया बुद्धि आदि विषय तद्रूपत विज्ञातमिति संबंध बुद्धिरात्मा इतव आदि रूपेण बुद्धि आदि रूपतया विज्ञातत्वात् बुद्धि आदि विषयम इति उक्तम इत तो विषय शब्द अत्र अभेद अभिप्राय बुद्धि आदि है विषय तद्रूपेण नित्यम विज्ञात ब्रह्म तो उसमें बुद्धि आदि विषय बुद्धि तद्रूपते बुद्धि आत्मा मन आत्मा इंद्रियम आत्मा इति विज्ञातम वेदवायाना वेदबाह्य वेद को प्रमाण नहीं मान करके ब्रह्म बौद्धादिना प्रसिद्धम बौद्धादिना प्रसिद्धम ब्रह्म विज्ञात है विज्ञात को ब्रह्म मानते हैं वेद बाह्य तो बुद्धि आदि बुद्धि को कोई आत्मा मानते कोई शून्य को आत्मा मानते ये प्रसिद्ध है तत इदानीम अपि अभी भी उनके मत को अनुसरण करने वाले उसके मत के अनुसार चलने वाले भ्रांतान में वो जो भ्रांत है बुद्धि आदि को अनात्मा में आत्मबुद्धि करने वाले भ्रांत है अतस्मिन तद्बुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि बुद्धि आदि विषयम अनात्म रूपम आत्मतया अभिमतम बुद्धि आदि जो विषयम अनात्म रूपम अनात्म रूप विषय उसको आत्मत्व न माना गया भ्रांता नाम ये तृतीय मंत्र हुआ अभी चतुर्थ मंत्र है ज्ञात ब्रह्मत्व आदर्शने ब्रह्मास्मी कथम व्यवहरती चेत किम अनया इष्टकवाहकानां रत्नपेटिकचिन्तया ज्ञातस्य व्यवहाराङ्गत्वं वदतोपि प्रकाश से इष्टत्वाद् वास्तव ज्ञातता अनपेक्षत्वाद इत्यवित्पन्न वित्पादनाय शुद्धम उद्भावयति ज्ञात ब्रह्म तो आदर्शन है ब्रह्म ज्ञात ऐसे ज्ञान ठीक नहीं है ब्रह्म ज्ञातत्व अनुबोधे ज्ञातत्व ज्ञात ब्रह्म तो आदर्शन है ज्ञा ब्राह्मण ज्ञातत्व आदर्शन है ब्रह्म में ज्ञातत्व का दर्शन नहीं विधि तत्व ने ज्ञान नहीं ज्ञातम ब्रह्म इस प्रकार ज्ञात ब्रह्मत्व न अदर्शन ज्ञान ऐसा नहीं होता ब्रह्म विदितम ब्रह्म विदितम ऐसा यदि ज्ञान नहीं होता है ब्रह्म में ज्ञातत्व का विदितत्व का ज्ञान नहीं होगा तो कथम ब्रह्मास्मिति व्यवहरति हम ब्रह्म है ऐसा कैसे व्यवहार करेगा ज्ञात का तो व्यवहार होगा ज्ञात नहीं होगा तो व्यवहार कैसे करेगा व्यवहार होता है तो ब्रह्म ज्ञात मानना चाहिए इति चेत यहाँ तक शंका होने पर कहते हैं किम अनया इष्टक वाहका नाम रत्न पेटी चिंता चिंताया ईट ढोने वाले ईट पकड़ कर ऊपर चढ़ो मकान बनता है देखा होगा सो जो ईट ढोने वाले वो रत्न पेटी का चिंता है रत्न का में क्या रत्न कितने वजन क्या जरूरत है उसको तो छूने के लिए भी नहीं मिलेगा देखने के लिए नहीं मिलेगा ईट ढोने वाले ईट ढोएंगे पत्थर ढोएंगे और रत्न पेटिका जहाँ है वहाँ प्रवेश नहीं होता है उसके लिए चिंता करने क्या जरूरत है अर्थात अज्ञानी के लिए ब्रह्मास्मि व्यवहार कैसे करेगा ये क्या जरूरत है ज्ञातस्य व्यवहारंगत्वम वदत आप कहते हो ज्ञात होगा तो व्यवहार का साधन होता है घट का ज्ञान हुआ घट ज्ञात है तो घट का व्यवहार होता है हम घट शब्द प्रयोग करता है घट को लेता है ये प्रवृत्ति निवृत्ति घट लाने के लिए प्रवृत्त होता है ज्ञात घट घट ज्ञात होने पर व्यवहार का साधन होता है ब्रह्म भी ज्ञात होगा तो व्यवहार का साधन होगा ज्ञात नहीं होगा तो ब्रह्मास्मि कैसे व्यवहार करेगा शब्द प्रयोग कैसे करेगा उसको ज्ञान कैसे होगा ब्रह्मास्मि से चिंतन कैसे करेगा तो ये जो ज्ञात ब्रह्म व्यवहार का साधन होता है कहते हो ज्ञात ब्रह्म व्यवहार कारण इति बदतो ऐसा कहने वाले कहने वाले क्या है ज्ञात तो मतलब ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है प्रकाश प्रकाश युक्त ही वस्तु व्यवहार का अंग होता है घट केवल घट व्यवहार का अंग नहीं होगा साधन नहीं होगा प्रकाश होने पर तो वस्तु प्रकाश से व्यवहारंगत्वम इष्टत्वात् तो प्रकाश विशिष्ट घट व्यवहार का अंग मानोगे तो घट का प्रकाश को व्यवहार अंग मानना पड़ेगा वस्तु प्रकाश से व्यवहारंगत्व से इष्टत्वात् वस्तु प्रकाश से व्यवहार का अंग है वस्तु का प्रकाश होने के लिए घट प्रकाश होगा प्रदीप के द्वारा अन्य दीप नहीं होगा प्रकाश नहीं होगा तो घट का प्रकाश नहीं होगा दीप का प्रकाश करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं प्रकाश व्यवहार का अंग इतने आपने माना ज्ञात व्यवहार का अंग होता है प्रकाश विशिष्ट व्यवहार का अंग होगा तो वस्तु प्रकाश व्यवहार का अंग इतने तिष्ट तो है वास्तव वास्तव ज्ञातता न अपेक्षत्वाद उसमें ज्ञातता वास्तव होनी चाहिए ब्रह्म प्रकाश हेन से व्यवहार होगा उसमें ज्ञातता वास्तव ज्ञातता है घट का ज्ञान होने पर घट ज्ञात हुआ उसमें के ज्ञातता नाम को व्यवहार करते मीमांसक लोग प्राकट्य ज्ञान विषय तो ज्ञान हो जाने के बाद घट में ज्ञातता तो ब्रह्म में ज्ञातत्व वास्तव रहेगा तो व्यवहार होगा ऐसे कोई जरूरत नहीं ब्रह्म का प्रकाश होने से व्यवहार हो जाएगा ब्रह्म में ज्ञातत्व वास्तव रहना कोई जरूरत नहीं वास्तव ज्ञातता अनपेक्षत्वात् तो। वास्तव ज्ञातता की अपेक्षा नहीं और प्रकाश जैसे घट का प्रकाश दीप से होता है दीप का व्यवहार करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार ब्रह्म का व्यवहार करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है इत तो अवित्पन्न वित्पादनाय अवित्पन्न अवित्पन्नानां वित्पा अवित्पन्नानां वित्पादनाय अवित्पन्नेभ्य अवित्पन्नाय अवित्पन्नानां वित्पादनाय जो वित्पन्न नहीं है समझ नहीं पाते उनके लिए वित्पादन बुद्धि में उतरने के लिए शंका समाधान करके प्रश्न करते चोद्यम उद्भावयति पर आक्षेप करके फिर उत्तर देंगे भाष्य में अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम विजानताम ब्रह्म को जो जानते हैं उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात अभिज्ञात नहीं विदित नहीं होता है विदित से भिन्न है यह अवधृतम निश्चय हुआ जो विजानताम ज्ञानिनामते विदुषामते ब्रह्म विज्ञातम न भवति विदितम न भवति विदित से अन्य है अभिज्ञात होता है अभिषेत्व ज्ञात होता है यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अभिज्ञातम लौकिकानां ब्रह्मविदान सा विशेष प्राप्त यदि ब्रह्म विदित नहीं होता है अभिज्ञात अत्यंत ही कभी विदित होगा ही नहीं तो लोक साधारण लोग जैसे इसी प्रकार जो वेदांत श्रवण करते हैं बहुत दिन श्रवण करते करते अंत में क्या होगा ब्रह्म ज्ञात होगा विदित नहीं होगा तो फिर इतने वेदांत श्रवण करने के बाद भी ब्रह्म ज्ञानी जो अपने को मानते हैं उनके लिए भी ब्रह्म अविदित है और सामान्य लोग तो ब्रह्म ज्ञात नहीं तो दोनों में क्या फर्क रहा भेद रहा बराबर हुआ जो बिल्कुल नहीं जानते हैं ईट पत्थर ढोने वाले भेड़ बकरी चराने वाले गोपाल उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं और जो सब छोड़ करके सन्यास लेकर विचारण करके श्रवण श्रवण करके ज्ञानी माने जाते हैं उनको भी ब्रह्म विदित नहीं ज्ञान किसको हो गया तो भी विदित नहीं हुआ तो क्या मिला उसको बराबर हो गया अविशेष लौकिका नाम ब्रह्म च अविशेष समान हो गया कोई विशेष नहीं हुआ अभिज्ञान तो विजानतामिति च परस्पर विरुद्धम ये जो अभिज्ञातम विजानताम इति अवधृतम का जो ज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात है जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात है जिन्होंने भोजन कर लिया वो अभी भूखे उनका अभी व्रत चल रहा है जिन्होंने भोजन कर लिया वो तो अभी खाली पेट में है और जो भोजन नहीं किए वो पेट भरा हुआ है ये कैसे बनेगा विज्ञानतम अभिज्ञातम जान लिया उनके लिए अज्ञात है ये तो परस्पर विरुद्ध है यदि अभिज्ञात है तो ज्ञान नहीं हुआ यदि ज्ञान हो गया तो विज्ञान तो हो गया घट को जो जान नहीं नहीं जानता है तो घट उसके लिए अभिज्ञात है जो जान लिया उसके लिए विज्ञात होता है और जानने के बाद घट अभिज्ञात होगा और जान नहीं जानता है तो घट विज्ञात ये तो विरुद्ध होता है अभिज्ञात विज्ञानता मिति च परस्पर विरुद्धम कथम नु तद ब्रह्म सम्यक विदित भवति तो ब्रह्म सम्यक विदित कैसे होगा जानता है तो अज्ञान अज्ञान है नहीं जानता है तो ज्ञान ये क्या है इतम अर्थम है हाँ, के लिए आगे कहते हैं टीका में नील पितादि आकाराणाम बुद्धि विकाराणाम जड़ाणाम य चैतन्य व्याप्तत्वेन अजडवत अवासस्तम साक्षिणम उपलक्ष्य सोहम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्याद यो वेत्ति स ब्रह्मविदि उच्यते नील पितादि बुद्धि बुद्धि विकाराणाम नीलाकार पीताकार बुद्धि होती है अंतकण की वृत्ति है नीलम पीतम घट पट रूपम रस ये रूपाकार रसाकार नीलाकार पिताकार तत्त घटाकार पटाकार बुद्धि होती है घट पट चक्षु सन्निकर्ष होने पर अयम घट अयम पट इदम नीलम इदम पीतम इदम मधुरम इदम अम्लम नील पितादि आकार बुद्धि विकाराणाम बुद्धि का विकार है बुद्धि विकार है परिणाम है बुद्धि में से परिणाम होता है वृत्ति होती है वो वृत्ति बुद्धि जड़ होने के कारण उसके परिणाम भी जड़ है अयम घटपट आदि जो ज्ञान कहते हैं वस्तुतः घटपटाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम चक्षु का संबंध घट के साथ होता है चक्षु के द्वारा अंतकर्ण जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाने से वो में का परिणाम हुआ घटाकार वृत्ति तो घटाकार वृत्ति भी अंतकर्ण का कार्य जड़ है जड़ होने पर भी उसको ज्ञान कहते हैं उसको कहते घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति को घटाकार वृत्ति जड़ को ज्ञान क्यों कहते हैं वो वृत्ति स्वच्छ होने के कारण चैतन्य की, की अभिव्यक्ति करती है चैतन्य से व्याप्त हो जाती वृत्ति चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करती वृत्ति है चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण करने से चिदाभास युक्त होने से चैतन्य व्याप्तत्वेन चैतन्य से व्याप्त है क्योंकि चिद रूप ब्रह्म सर्वव्यापक है जड़ वृत्ति भी चैतन्य से व्याप्त है चैतन्य से व्याप्त होने के कारण अजड़वद आवास है तो जड़ किंतु अजड़ जड़ से बिना आत्मा जैसे चेतन जैसे भान होता है इसलिए उसको कहते चिदाभास चिदवद आभासते इति चिदाभास हे वृत्ति चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ प्रतिबिंब चेतन नहीं है चेतन जैसे लगता है उसके संबंध से वृत्ति में भी अजड़वद आभास वृत्ति में परिणाम का आभास होता आत्मा जैसे इसलिए उसको ही बुद्धि को ही कोई आत्मा मान लेते हैं वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं ज्ञान तो शुद्ध चैतन्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म किंतु वृत्ति में ज्ञान की अभिव्यक्ति होती अथवा ज्ञान रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है जैसे जल में कोई विशेष प्रकाश नहीं सूर्य किरण का प्रतिबिंब होता है तो जल चकमक दिखता है दर्पण में प्रकाश नहीं दर्पण अंधकार में रखेंगे कमरा में आलोक हो जाता है ना होता है आलोक दिन में सूर्य किरण का संबंध होता है तो दर्पण में प्रकाश दिखता है देख नहीं पाएंगे दर्शुर बाह्य प्रकाश से प्रकाश युक्त हो जाता है दर्पण स्वकीय प्रकाश नहीं है इसी प्रकार वृत्ति जड़ है स्वकीय प्रकाश नहीं है किंतु चेतन रूप प्रकाश से प्रकाश युक्त हो जाने से उसी वृत्ति से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से घट आदि का प्रकाश होता है घट ज्ञान पट ज्ञान जो कहते घटाकार वृत्ति वृत्ति तो जड़ है किंतु चिदाभास विशिष्ट होने से चेतन से व्याप्त होने से वो ज्ञान शब्द से कहा जाता है गौण प्रयोग वृत्तो ज्ञानत्व उपचारात वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार गौण प्रयोग होता है इसको ही ज्ञान शब्द से लोक में कहते घट ज्ञानम उत्पन्नम घट ज्ञान नष्टम ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ वृत्ति ज्ञान को लेकर के तो जो वृत्ति ज्ञान है जड़ है जड़ होने पर भी चैतन्य व्याप्त होने से अजड़वत आभास चेतन जैसे भान होते प्रकाश जैसे लगता है जिस चेतन से व्याप्त होकर के जड़ में प्रकाश दिखता है वो चेतन है साक्षी तम साक्षिणम उपलक्ष्य वो साक्षी को उपलक्ष्य अहम शब्द से लक्षणा से साक्षी को लेकर के अहम शब्द का वाच्यार्थ तो चिदाभास है लक्षण के द्वारा साक्षी को लेकर के सोहम आत्मा ब्रह्म वही मैं ब्रह्म हूं इति महावाक्याद महावाक्य से ब्रह्म ज्ञान होता है कैसे ज्ञान होता है अविषयतया विषयत्व नहीं इदंत्व नहीं अहम अस्मि सो अहम अस्मि अविषयत्व जो यो व्यक्ति जानता है उसको ब्रह्मविदि कहा जाता है सब ब्रह्मविदि उच्यते तेन ना विशेष प्रसंग आदि चद्यावकाश इत्या इसलिए अविशेष प्रसंग बराबर हो गया और बहुत श्रवण करने के बाद कोई लाभ नहीं हुआ व्यर्थ हुआ उसके अपेक्षा अच्छा है जो भेड़ बकरी गौ चराते विषय सेवन करते इतने श्रवण करके क्या लाभ हुआ ये चौद्य का कोई अवकाश आक्षेप का अवकाश नहीं है अविशेष प्रसंग नहीं हाँ विषयत्व ज्ञान नहीं होता है ज्ञानी को किंतु ने ज्ञान होता है और जो लौकिक सामान्य लोग उनको ब्रह्म विषयत्व ज्ञान होता है न वो नहीं होता है तो उनको होता है नहीं किंतु ज्ञानी को तो अविषयत्व तो नहीं ज्ञान होता है तो बराबर कैसे होगा और जो भ्रांत है उनको ज्ञान होता है न भ्रांतों को ज्ञान होगा ब्रह्म विषयत्वेन देह आदि में हम बुद्धि करके और जो यथार्थ ज्ञानी उनके लिए अविषयत्व ज्ञान होता है और सामान्य लोग को विचार कुछ नहीं करते उनको तो ज्ञान है ही नहीं गोपाल आदि इसीलिए अविशेष नहीं हुआ गोपाल आदि से अविशेष नहीं हुआ और भ्रांत से अविशेष नहीं हुआ भ्रांतों को तो विषयत्व ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान होता तो अविषयत्व ज्ञान होता है तेन न अविशेष प्रसंग आदि चौद्य आक्षेप का अवकाश है इसको ही इस मंत्र में कहते हैं प्रतिबोध विदित मतम अमृतत्वम हि विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृतम प्रतिबोध विदितम मतम प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रतिति प्रतिबोधम प्रतिबोधम विदितम प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रतिविदितम जो बोध ज्ञान है ये ज्ञान वृत्ति ज्ञान प्रत्येक वृत्ति ज्ञान में स्थित ब्रह्म विदितम प्रतिबोध विदितम घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार रसाकार अंतकरण के परिणाम वृत्ति जितने वृत्ति है वो वृत्ति जड़ है किंतु उसका प्रकाशक कोई चेतन है जिसके संबंध से जड़ वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं जिसके संबंध से जड़ वृत्ति प्रकाश रूप धारण करती है वही ब्रह्म है जो एक चेतन ब्रह्म है सबके साथ अनुगत सारे वृत्ति का प्रकाशक सर्वत्र व्याप्त है उसके संबंध से ही जड़ वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं यदि चिदाभास चेतन का संबंध नहीं होगा चेतन की अभिव्यक्ति नहीं हो तो वृत्ति और घड़ा दोनों बराबर है उसको ज्ञान क्यों कहेंगे इसलिए दीवाल को ज्ञान नहीं कहते चेतन नहीं कहते जड़ कहते हैं दीवाल पत्थर में चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होती है वृत्ति स्वच्छ होने से उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होती है चेतन का प्रतिबिंब दिखता है जिस चेतन के संबंध से जड़ वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध प्रत्येक बोध में वृत्ति ज्ञान में वो साक्षी रूप से प्रकाश रूप से और सब बोध का अधिष्ठान रूप से अथवा बोध का वास्तव स्वरूप रहता है ज्ञान ब्रह्म वास्तवत है ब्रह्म शुद्ध चेतन और उसका प्रतिबिंब दिखता है घड़ा में जल रखेंगे घड़ा में आकाश था जल भरने के बाद आकाश रहेगा निकल जाएगा आकाश रहता है जल दिखता जल रहता है जल में आकाश का प्रतिबिंब होता है जब आकाश का प्रतिबिंब होगा जल में बच्चा कहता है घड़े में आकाश है किस आकाश को कहता है प्रतिबिंब आकाश जब देखेगा उस समय वास्तव आकाश रहेगा जल में वास्तव आकाश तो है किंतु उसको नहीं जानता है प्रतिबिंब को दिखाता है तो जो आकाश वास्तव आकाश कौन है जो जल भरने पर भी आकाश रहता है वही वास्तव है वास्तव तो आकाश वो है है वो दिखता नहीं दिखता प्रतिबिंब इसी प्रकार यहाँ देहादि उपाधि उपाधि में प्रतिबिंब चिदाभास ये सब दिखते हैं इन सब का वास्तव स्वरूप अधिष्ठान चेतन है प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध का आत्म रूप से विदितम अधिष्ठान रूप से साक्षी रूप से प्रकाशक रूप से वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक कहो वृत्ति ज्ञान में अनुगत कहो वृत्ति ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा कहो एक तत्व है वृत्ति को प्रकाश करता है सारे वृत्ति में अनुगत है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति विषय भिन्न भिन्न है घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान भिन्न किंतु सारे वृत्ति में प्रकाश रूप पूर्ण एक है अन्य व्यतिरिक अभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा आत्मा उसको समझना अन्य व्यतिरिक घटाकार वृत्ति जब पट देखने लगेंगे क्या वृत्ति होगी पटाकार वृत्ति के समय घटाकार वृत्ति रहेगी नहीं रहा आगे रूपाकार वृत्ति हुई घटाकार वृत्ति रहेगी पटाकार नहीं पुष्पाकार वृत्ति हुई ये वृत्ति सब नष्ट हो गई अभी खाया कुछ मधुराकार वृत्ति हुई अन्य वृत्ति नष्ट होगी वृत्तियों का एक एक के बाद कोई रहता कोई नहीं रही वृत्ति किंतु सारे वृत्ति में अनुगत एक सद सदरूप है स्फुरन रूप है सदरूप और स्पुरण वृत्ति स्वयं उत्पत्ति नाश वाला है किंतु वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चेतन अभिव्यक्त जो चेतन है वो चेतन रहता है एक वृत्ति रहे दूसरा वृत्ति रहे तृतीय वृत्ति रहे चेतन तो अभिवत होता है वो अभिवत चेतन एक है अलग-अलग नहीं है वृत्ति के कारण हमको लगता है घट ज्ञान अलग पट ज्ञान अलग रूप ज्ञान अलग रस ज्ञान अलग जिस प्रकार आकाश एक ही आकाश हजार घड़ा में आकाश कितने रहे आकाश रहेगा एक ही आकाश हजार घड़े में लाखों करोड़ घड़े में भी रहेगा किंतु घट भिन्न भिन्न है क्या एक है घट भिन्न भिन्न होने के कारण तत्त घटाकाश को नाम अलग-अलग होता है एक घट तोड़ दिया तो तद घटाकाश नहीं रहा अन्य घटाकाश रहेगा तो घट रूप उपाधि के संबंध से एक आकाश में अनेकत्व का व्यवहार होता है अथवा घटाकाश मठाकाश गुहाकाश करकाकाश कर के कमंडलू अलग-अलग घट मठ गुहा करक अलग-अलग उपाधि के भेद से एक ही आकाश में अनेक आकाश का व्यवहार होता है अनेक आकाश होगा उपाधि को लेकर के वस्तु तो एक ही आकाश है इसी प्रकार वृत्ति अनेक होने से ज्ञान घट ज्ञान अलग पट ज्ञान अलग रूप ज्ञान अलग रस ज्ञान अलग ऐसा हम कहते हैं किंतु ज्ञान एक है उपाधि परामर्श के बिना घट करक मठाकाश गुहा आकाश जितने आकाश है उपाधि के परामर्श के बिना आकाश का भेद सिद्ध हो जाएगा उपाधि को छोड़े तो सो आकाश आकाश का भेद सिद्ध नहीं हुआ इसी प्रकार यहाँ घटपट आदि विषय को छोड़ देंगे तो ज्ञान एक घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान घटपट आकार वृत्ति को छोड़ दिया तो केवल चिद रूप रहा एक ही ये तो प्रत्येक बोध के साक्षी प्रत्येक बोध का आत्म स्वरूप प्रत्येक बोध का अधिष्ठान ऐसा जो विदित ज्ञात होता है मतम वो सम्य ज्ञान है वो सम्य ज्ञान क्यों ही कासी यस्मात अमृतत्व विन्दते क्योंकि ऐसे ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करो अमृतत्व अमर तो को मोक्ष को प्राप्त करता है यही ब्रह्म ज्ञान है बुद्धि का साक्षी ब्रह्म आपका स्वरूप है प्रत्येक वृत्ति में घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान से ज्ञान वृत्ति भिन्न भिन्न है सब वृत्ति का अभिव्यंजक वृत्ति में अभिव्यक्त होता है वृत्ति है चेतन का अभिव्यंजिका उसे वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है प्रतिबोध साक्षी रूप से स्थित ब्रह्म है इसको जो जानता है वही सम्य ज्ञान उसी ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है तो ज्ञान से अमृतत्व कैसे प्राप्त होता है आत्मना विन्दते यहाँ पदभाष्य वाक्यभाष्य में थोड़ा भेद किया गया पदभाष्य में कहे आत्मना विंदते अमृतम और विद्या विंदते वीरियम और वाक्याशय के आत्मना विन्दते अमृतत्वम कैसे प्राप्त करता है आत्मना विन्दते ब्रह्म अपने स्वरूप से स्वभावतः प्राप्त है नित्य प्राप्त है ब्रह्म आत्मा एक है अमृतत्वम भी विंदते अमृतत्व कैसे प्राप्त करेगा आत्मना विन्दते आत्म रूप से ब्रह्म को जानता है तो प्राप्त होता है वही ब्रह्म है नित्य आत्म स्वरूप से ब्रह्म को प्राप्त जानता है प्राप्त करता है तो फिर विद्या की क्या आवश्यकता वीर्यम विद्या बिंदते अमृतम विद्या बिंदते वीर्यम अमृतम वीर्यम विद्या बिंदते विद्या से प्राप्त करता है वीर्यम सामर्थ्यम वो सामर्थ्य कैसा है अमृतम बाकी जितने सामर्थ्य धन आदि के सामर्थ्य वो अनित्य है धन से किसके पास सामर्थ्य आ गया बल से सामर्थ्य बड़ा बलवान है बड़ा बलवान है यदि पांच सात दिन भी बीमार पड़ गया बस चलना भी मुश्किल है खड़े होते होते गिर जाएगा बलवान क्या है बड़े बल घमंड होता है थोड़े हो गया एक सप्ताह में कभी-कभी एक दो दिन में हो जाता है एक दिन में ऐसा होता तो लेकर तुरंत लेकर हॉस्पिटल लेकर के क्या चढ़ाओ सालानी कुछ चढ़ाओ नहीं तो मर जाएगा एक दिन में और कहीं कहीं एक दिन नहीं लगता एक क्षण में खत्म हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने के पहले खत्म एक दिन एक क्षण ये बलवान कुछ नहीं अन्य जितने विद्याकृत बल अन्य अविद्याकृत धन संपत्ति परिजन लोक संपत्ति आदि से जो बल वो अनित्य है किंतु विद्या से जो प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या से जो वीर्य वो अमृतम वीर्यम वीर्य का विशेषण अमृतम वीर्यम विद्या विंदते अमृतम जो वीर्यम सामर्थ्य कौन सा सामर्थ्य है विद्या से प्राप्त होता है ओ एक तो कहते हैं सामर्थ्य अनात्मा तिरस्कार करने का सामर्थ्य विद्या होने पर अनात्मा का तिरस्कार जड़े में अनात्मा तो बुद्धि दृढ़ हो जाता है हो जाती है और शंकरान दीदी भी क्या कहते हैं यहाँ सामर्थ्य का अर्थ अविद्या निवृत्ति का कारण चरम साक्षात्कार विद्या विंदते सामर्थ्यम विद्यम क्या विंदते विद्यम वो सामर्थ्य साक्षात्कार तो विद्या विंदते विद्यम विद्याकृत सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य अलग-अलग प्रकार व्याख्यान किया विद्याकृत सामर्थ्य की सोहम अस्मिति दृढ़ी भाव अथवा अनात्म तिरस्कार अनात्म तिरस्कार विद्या के कारण होता है नायम आत्मा बल बलहीन न लभ्य वहां बल का अर्थ ज्ञान से जब बल प्राप्त होता है वो बल क्या है विद्या के वीर्यम नित्य अमृत वीर्यम वही सामर्थ्य क्या सामर्थ्य अनात्म तिरस्कार जब तक ज्ञान नहीं होता है अनात्म में आत्मा तो बुद्धि है ज्ञान हो जाने पर अनात्मा का निश्चय हो गया यह अनात्मा है उसको तिरस्कार करता है छोड़ता है छोड़ देता है नहीं चाहिए ये सामर्थ्य प्राप्त होता है ज्ञान से विद्या विन्दते वीर्यम अमृतम ऐसे व्याख्यान किया और अन्य प्रकार क्या आत्मना विन्दते अमृतम विद्या विद्यते वीर्यम नहीं तो आत्मना विन्दते आत्मना विंदते इतने कहीं किसके अमृतत्वम जो अमृतत्व है विंदते अमृतत्व प्राप्त होता है अपने स्वरूप से नित्य आत्म स्वरूप है अपने स्वरूप से प्राप्त करता है स्वभावत मोक्ष प्राप्त करता है स्वभावत ये मोक्ष प्राप्त करता है तो ज्ञान की क्या आवश्यकता तो विद्या विंदते अमृतम विद्या विंदते अमृतम अमृतम विद्या से प्राप्त करता है वे वीर्य अमृतम वीर्यम वीर्य है सामर्थ्य अमृतम वीर्यम और कहीं कहते हैं विद्या विंदते अमृतम आत्मना विंदते वीर्यम स्वभावत सामर्थ्य प्राप्त करता है विद्या से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है अलग-अलग प्रकार व्याख्या है तो ये प्रतिबोध विदित मतम बोध बोधम प्रति प्रत्येक वृत्ति ज्ञान के साक्षी रूप से प्रत्येक वृत्ति ज्ञान में अनुगत होकर के प्रत्येक वृत्ति ज्ञान का वास्तव स्वरूप होकर के ब्रह्म रहता है उसको जो जाना जाता है उस मतम सम्यक विदितम उस सम्यक ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सब वृत्ति ज्ञान किन सारे वृत्ति ज्ञान में अनुसूत है चिद रूप ब्रह्म केवल वृत्ति ज्ञान नहीं घटपट आदि में भी ब्रह्म सर्वत्र है यत्स्या सर्वत्र सर्वदा घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति अस्ति अस्ति कह करके घट पट नहीं पट पुस्तक नहीं पुस्तक कलव नहीं सब व्यभिचार होता है किन सन रूप अस्थि का अव्यभिचार है घट सन पट सन मट सन सन कहो अस्थि कहो सत कहो स्त्रीलिंग सत ये सब एक है अस्थि अस्थि करे सर्वत्र अनुगत है सद्रूप जैसे सर्वत्र सद्रूप अनुगत हुआ घटपट आदि का व्यभिचार होता है तो मिथ्या है जिसका जिसकी अनुगति होती सर्वत्र रहता है वो सद्रूप है इसी प्रकार वृत्ति में घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति वृत्ति ज्ञान भिन्न भिन्न है किंतु सारे वृत्ति में अनुगत है सदरूप अनुगत है चिद्रूप स्पुरन चेतन जिस चेतन से युक्त होकर के घटाकार वृत्ति भी चेतन जैसे लगती है प्रकाश जैसे लगती है चिदा चिदाभास युक्त चिदाभास जिसमें हो जाता है चेतन का आभास प्रतिबिंब चिदवद आभास देव चेतन जैसे लगती है ये वृत्ति जिस मुख्य बिंब रूप चेतन के कारण चिदाभास वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वही सर्वानुगत वृत्तियों के साक्षी वृत्तियों का अधिष्ठान वृत्तियों के वास्तव स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जो जाना जाता है वो सम्यक ज्ञान है साक्षिणम उपलक्ष्य सोहम आत्मा ब्रह्म इति महावाक्य से अभिषेतन जो जानते ब्रह्म विधि प्रतिबोध विदितम इति भाष्य में प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति विदितम प्रतिबोध विदितम बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम अभिवाह समास हो गया विपसा में बोध शब्देन बौद्धा प्रत्यय उच्यन्ते बोध शब्द से बौद्ध बुद्धेर इमे इति बौद्धा बुद्धि का जो प्रत्यय बुद्धि का परिणाम प्रत्यय वृत्ति ज्ञान उनको बोध शब्द से कहा गया बौद्धा बुद्धेर अयमिति बौद्ध बुद्धि से अण करेगा तो आदि से वृद्धि होने से यसे चलोपन से बौद्ध बनेगा बहुवचन बौद्धा बौद्धा का विग्रह क्या होगा बुद्धेर इमे इति बौद्धा इमे के प्रत्यय बुद्धि के जो प्रत्यय बौद्धा बुद्धि के प्रत्यय ज्ञान वृत्ति ज्ञान वो बौद्ध शब्द से कहा गया लोक में जो कुछ जिसको हम कहते घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान उसको बौद्ध शब्द से कहते हैं सर्वे प्रत्यय विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सारे प्रत्यय घट ज्ञान होने के बाद तार्किक लोग कहते घट ज्ञान को कहते व्यवसाय ज्ञान निश्चय उसके बाद घटम अहम पश्यामि इसको कहते अनुव्यवसाय ज्ञान वेदांती कहते घट ज्ञान पट ज्ञान वृत्ति ज्ञान होते ही घट ज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है इसलिए घट ज्ञान होने के बाद कभी संदेह नहीं होता है मैं घट ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ सामने ये वस्तु घट है या पट है ये तो संशय हो सकता है किंतु इसका ज्ञान मुझे हुआ नहीं हुआ जिसको देखते उसका ज्ञान हुआ किंचित इदम ज्ञान हुआ ठीक है घटो ये में तो ज्ञान हुआ और ज्ञान भ्रम ज्ञान हो यथार्थ हो यह अलग बात है तो ज्ञान मम जातम नवा ऐसा संदेह नहीं होता है ज्ञान हुआ कोई पूछेगा तुमने देखा हां देखा है क्या देखा हाँ, सर्प देखा बाद में देखा सर्प तो नहीं तो सर्प ज्ञान मुझे हुआ था उसमें संशय नहीं सर्प ज्ञान मुझे हुआ था वास्तव सर्प है या है वो तो अलग बात है किंतु सर्प ज्ञान हुआ था ज्ञान में संशय नहीं होता है हाँ विषय वो सर्प है या नहीं पता है तुमको और तो पता नहीं हमको तो सर्प जैसे लगा सर्प ज्ञान हमको तो हुआ विषय सर्प है रज्जु उसमें संशय हो सकता है किंतु सर्प ज्ञान मुझे हुआ था या नहीं हुआ था ऐसा संशय नहीं होता है तो ज्ञान हुआ था संशय ज्ञान हुआ था तो भी कहे मुझे ज्ञान हुआ था ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ था यथा तो भी हो तो ज्ञान में संशय नहीं होता है ज्ञान का साक्षी है ज्ञान को प्रकाश वृत्ति ज्ञान को प्रकाश करती साक्षी है इसे साक्षी होता है सर्व प्रत्यय का सर्व प्रत्ययदर्शी विषय चाहिए विषयी सर्वे प्रत्यया विषयी भवंती जी प्रत्यांत विषय हो जाते हैं सारे प्रत्यय वृत्ति ज्ञान जिसके विषय हो जाते हैं प्रत्यय का विषय घट है घट विषय करने वाले घटाकार वृत्ति किंतु घटाकार वृत्ति भी जिसके विषय हो जाते हैं विषयी भवंती अस्य किसका है साक्षी का स आत्मा वही आत्मा है सर्वबोधान प्रतिबुद्धते सारे बोध को जानता है आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुद्धते वही सर्वप्रत्यदर्शी सर्व सर्वान प्रत्ययान पश्यति इति सर्व सारे प्रत्यय का साकी है घटाकार पटाकार वृत्ति जितने ज्ञान सब को देख प्रकाश करने वाला वही चित शक्ति स्वरूप मात्र वो चिद रूप है चित शक्ति शक्ति शब्द प्रयोग कर लिया वो चेतन ही शक्ति है कुछ नहीं चेतन की शक्ति नहीं चित्त शक्ति स्वरूप स्वरूप चेतन स्वरूप ही चेतन स्वरूपमेव चेतन स्वरूप मात्र चिद रूप है जो प्रतिबोध विद है विदिदम सर्व प्रत्यदर्शी सारे वृत्तियों का साक्षी चिद रूप है स्वरूप मात्र और कुछ नहीं स्वरूप मात्र तो उसका ज्ञान कैसे होगा प्रत्ययरेव प्रत्ययसु अविशिष्टतया लक्ष्यते प्रत्ययरेव लक्ष्यते वही वृत्ति से लक्षित होता है उसको कैसे जानेंगे सर्व प्रत्यय को जानने वाला चेतन चेतन सर्व प्रत्यय को प्रकाश करता है तो चेतन को किसके द्वारा जानेंगे कहते सर्व प्रत्यय रे सब प्रत्यय से प्रत्यय से किस जानेंगे सब प्रत्यय है वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो चेतन से प्रकाशित है तो वृत्ति ज्ञान के द्वारा कैसे उसको जानेंगे कोई कहेगा प्रकाश किसको कहते हैं प्रकाश क्या है सूर्य तो यहाँ नहीं दिखता है ये घटपट आदि सब दिखता है देखे तो घटपट देखो इसे प्रकाश दिखता है इसमें प्रकाश है इसी के द्वारा प्रकाश को निश्चय करना ये घट को देखो घट के द्वारा प्रकाश नहीं चाहिए ये घटपट आदि सब में प्रकाश है देखो घटपट आदि सब में प्रकाश है प्रकाश ये घट प्रकाशित है और प्रकाश को कहाँ देखेंगे घटपट आदि को दिखाओ घट को देखो देखो यहाँ प्रकाश है अब जो प्रकाश नहीं है अभी देखो घट दिखता है अंधकार में घट दिखता है या पट दिखता है नहीं दिखता और अब देखो प्रकाश भी दिखता है प्रकाश को घट के द्वारा लक्षित देखते हैं इसी प्रकार प्रत्यय के द्वारा चेतन को जानना प्रत्यय वृत्ति ज्ञान वृत्ति है जड़ सर्व प्रत्यय रेव तो प्रत्यय से उसको कैसे जानेंगे प्रत्यय तो जड़ जड़ के द्वारा कैसे जानेंगे इसलिए कहा प्रत्ययसु अविशिष्टतया लक्ष्यते वृत्ति ज्ञान में अविशिष्ट समान होकर के दिखता है वृत्ति ज्ञान चेतन जैसा लगता है अविशिष्टतया जिसके संबंध से वृत्ति जड़ वृत्ति चेतन जैसे लगती है सब प्रत्यय में अविशिष्टतया लक्ष्यते अन्य कोई चेतन अलग नहीं यहाँ प्रकाश अलग घट अलग पदार्थ अलग दिखता है क्या घट जब दिखता है प्रकाश दिखता है नहीं दिखता है प्रकाश एक तरफ घट की तरफ ऐसे दो अलग दिखता है प्रकाश विशिष्ट होकर घट दिखता है उसी प्रकार वृत्ति ज्ञान सर्व प्रत्ययसु अभिशिष्ट सारे प्रत्यय के साथ बराबर एक होकर के वृत्ति के साथ चेतन का तादात्म्य हो जाता है वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब दिखने से वही वृत्ति चेतन जैसे लगती है वृत्ति और चेतन दो अलग पदार्थ है वृत्ति जड़ है चेतन है दृग रूप आत्मा किंतु दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से वृत्ति में चैतन्य का भ्रम होता है दोनों का एकत्व भ्रम होने से परस्पर धर्म का आरोप होता है लौह पिंड और अग्नि दो व्यक्ति को लौह पिंड गर्म कर देने से लाल हो गया लाल होने पर स्पर्श करने से गर्म होगा लाल होने पर गर्म होगा हां और अग्नि कोई कहता है कोई कहता लौह कहता है अग्नि लौह का एक तो हो गया कहते अयो दहती अग्नि में जो दग्धृत लोह में दिखता है लोह में वर्तुल तो अग्नि में दिखता है परस्पर धर्म अध्यास हुआ इसी प्रकार वृत्ति जड़ है चेतन का तादात्म्य अध्यास होने से वृत्ति में चैतन्य दिखता है और आत्मा में बुद्धि के धर्म दिखता है सुख दुख आदि सुख दुख आदि बुद्धि का धर्म है अंतकरण का परिणाम है वो दिखता है कर्तृत्व दिखता है चेतन में चेतनो हम करोमि चैत्य बुद्धि चेतन का तादात्म्य अध्यास होने से बुद्धि का कर्तृत्व चेतन में चेतन का चैतन्य बुद्धि में ऐसे दिखता है एक सर्व प्रत्यक्ष अविशिष्टतया लक्ष्यते लक्षित होता है एक बराबर अलग-अलग नहीं दिखता है यहाँ लौह अग्नि में क्या होता है लौह कभी आपने देखा है अग्नि के बिना देखे अग्नि कभी देखी आपने लोह के बिना देखे अग्नि काष्ठ जलती अग्नि लोह नहीं है लोह है दरवाजे कितने लोह है ये अग्नि नहीं दो अलग-अलग दिखा हुआ तो लौह पिंड को गर्म करें तो लाल दिखता है वहां समझ में आ जाता है अग्नि के संबंध से लाल हो गया वो अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई किंतु यहाँ वृत्ति में चिदाभास के बिना वृत्ति कभी किसने नहीं देखी अचिदाभास अंतकण में ही दिखता है इसीलिए दोनों में एकत्व भ्रम इसका नाम तादात्म्यास एक ग्रंथि है बुद्धि के साथ चेतन का एकत्व यह ये सर्व प्रत्यक्ष अविशिष्टतना लक्ष्यते तो ब्रह्म को कैसे अलग से जानेंगे कहते नान्य द्वारम आत्मन विज्ञानाय अतः आत्मन विज्ञान अन्य कोई द्वारा नहीं है उसी के द्वारा ही जानना वायु को बताए वायु क्या है क्या वृक्ष आदि कंपन है तो वायु पेड़ वृक्ष कांप रहा है देखो जिसके कारण ही लया वही वायु है सब प्रत्यय में जिसके कारण प्रत्यय में चैतन्य दिखता है प्रकाश दिखता है वृत्ति में प्रकाश लगता है चेतन जैसे भान होता है जिस चेतन के कारण वही वस्तु तो है सर्व प्रत्ययदर्शी सब प्रत्यय को प्रकाश करने वाला प्रत्यय के साथ मिल कर करे प्रकाश करने वाला अलग रह करके नहीं वो प्रत्येक वृत्ति के साथ एक हो करके प्रत्यय को प्रकाश करने वाला प्रत्यय को प्रकाश करता है जानता है प्रत्यय विशिष्ट होता है अन्य उसको जानने के लिए कोई ज्ञान द्वार नहीं अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया वितितम ब्रह्म यदा प्रत्यय का प्रत्यगात्मा प्रत्यय वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान का प्रत्यगात्मा स्वरूप है वृत्ति ज्ञान का अधिष्ठान है प्रत्यगात्मा वही प्रत्यगात्मा अंतर सार है वृत्ति ज्ञान का सार है प्रत्यय जब हम कहते घटो अस्ति अस्ति कहते घटो अस्ति पटो अस्ति घटो अस्ति कहते पटो अस्ति कहते यदि घटो अस्ति पटो अस्ति तो घटपट हो घटपट है तो घटो अस्ति में घट अलग अस्ति अलग है यदि घट अस्ति एक होता तो पटो अस्थि घटो अस्थि दोनों के साथ अस्थि का संबंध हुआ और अस्थि घट यदि एक है पटो अस्थि एक है तो घट है हाँ पट होना चाहिए घटो अस्थि पटो अस्थि ये अस्थि घट घट अलग अस्थि अलग ऐसे लगता है घट उधर अस्थि उधर ऐसा है क्या घटो अस्थि पटो अस्थि ये दोनों अस्थि यदि घट के साथ अस्थि का एकत्व पट के साथ अस्थि एकत्व तो है इसको कहते अस्ति इसको कहते अस्ति तो घटक पटक घटपट नहीं इसे क्या सिद्ध हुआ घट के साथ जो अस्थि पट के साथ जो अस्थि वो घट पट के साथ एक नहीं है अस्थि अलग है घट अलग पट अलग ये अस्थि घट के साथ भी संबंध होता है पट के साथ संबंध होता है किंतु घटपट घटपट नहीं पट घट नहीं अस्थि का अन्वय हुआ घटपट दोनों के साथ केवल घटपट नहीं रूप रस गंध स्पर्श सब के साथ अस्थि का संबंध हुआ और विषय का घटपट रूप रस आदि का व्यतिरेक होता है अभाव होता है व्यभिचार होता है अस्थि का सदरूप का अव्यभिचार सबके साथ संबंध और विषय का व्यभिचार यहाँ भी देखो जितने बैठे हैं सब अस्थि अस्थि अस्थि अति सन सन करके सत का अन्वय और बाकी व्यक्ति का व्यतिरेक खाली मनुष्य के नहीं दीवार देखो पेड़ देखो कोई वस्तु देखो सबके पास पुस्तक अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति कहते हैं पुस्तक एक पुस्तक से दूसरा भिन्न है किंतु अस्ति एक सदरूप का अनुगत हुआ सर्वत्र सदरूप एक हुआ सर्वत्र अनुगत होकर के जैसे सदरूप रहा ऐसे प्रत्येक वृत्ति में चिद्रूप से अनुगत है चेतना अस्ति में भी दो है एक अस्थि और एक घट अस्थि का अनुगत दोनों मिल करके रहने से अलग पता नहीं चलता है इसी प्रकार वृत्ति ज्ञान में चैतन्य अनुगत होकर के है जिस प्रकार घटोस्थ में घट का घट में वास्तव स्वरूप जो आत्मा है अधिष्ठान चेतन है घट देश में अस्थि है चेतन चिद उसमें घट आरोपित है चेतन घट में चेतन अस्थि में सदरूप में घट आरोपित है किंतु कहते हैं लोग क्या घटस्य सत्ता घटो अस्ति घट जड़ को लेकर के उसमें अधिष्ठान सत्ता को दिखाते हैं सत्ता तो अधिष्ठान है सदरूप ब्रह्म का उसको दिखाते घट में घटो अस्ति अधिष्ठान सत है जिस प्रकार अधिष्ठान घट का आत्मा घट का वास्तव स्वरूप सदरूप आत्मा है इसी प्रकार सारे वृत्तियों का आत्मा है ब्रह्म सारे वृत्ति जड़ वृत्ति को जिस चेतन के संबंध से ज्ञान कहते वो चेतन है सर्व प्रत्यदर्शी सब प्रत्यय का अंतरात्मा एक आत्मा इसी प्रकार जितने बैठे सब का अंतरात्मा एक है भिन्न भिन्न नहीं घड़ा भिन्न भिन्न है सब घड़े में पानी है अंतकरण अचेतन है कि जैसे एक आकाश का प्रतिम्ब हजार करोड़ों घटे में होता है इसी प्रकार एक बिंब रूप चेतन का प्रतिम्ब को लेकर सब बैठे अलग-अलग सबके शरीर में अलग-अलग क्या है चिदाभास शरीर हो गया घड़ा और पानी के स्थान पर क्या है अंतकर्ण और चिदाभास को लेकर के कहते अहम अहम मैं जीव हूं मैं चैत्र मैं मैत्र चैत्र मैत्र देवदत्त यज्ञदत्त नाम नाम अलग हो गया देह अंतकण के भेद से बिंब रूप चेतन एक अद्वितीय सर्वत्र अनुगत है और वास्तव स्वरूप सबका वही एक अधिष्ठान जिस पर सारे प्रत्यय का प्रत्येगात्मा है ब्रह्म इस पर सबका प्रत्यगात्मा ब्रह्म है आरोपित है भेद वृत्ति ज्ञान में अनुगत रूप से स्थित है वो का सर्व प्रत्यय प्रत्येक आत्मतया विदितम ब्रह्म यदा विदित होता है तथा तन्मतम सम्यक ज्ञान दर्शन वही सम्यक ज्ञान है सारे प्रत्यय में स्थित सर्व प्रत्यय में अनुगत रूपे सारे वृत्ति ज्ञान के आत्मा अधिष्ठान वही ब्रह्म है ओम आप्यायन